अध्याय उनसठ लाउत्से ने कहा है मिताचारी बनो मानवीय कारोबार की व्यवस्था में मिताचारी होने से बढ़िया दूसरा नियम नहीं है मिताचार पूर्व निवारण करना है पूर्व निवारण करना तैयार रहने और सुदृढ़ होने जैसा है तैयार रहना और सुदृढ़ होना सदा जयी होना है और सदा जयी होना अशेष क्षमता प्राप्त करना है जिसमें अशेष क्षमता है वही किसी देश का शासन करने योग्य है और शासक देश की माता या सिद्धांत दीर्घजीवी हो सकती है यही है ठोस आधार प्राप्त करना यही है गहरा बल पाना और यही अमरता और चिर दृष्टि का मार्ग है chapter 59 be sparing in managing human affairs there is no better rule than to be sparing To be sparing is to forestall. To forestall is to be prepared and strengthened. To be prepared and strengthened is to be ever victorious. To be ever victorious is to have infinite capacity. He who has infinite capacity is fit to rule a country, and the mother, principle of a ruling country, can long endure. This is to be firmly rooted, to have deep strength, the road to immortality and enduring vision. सूत्र के पूर्व कुछ बातें समझ लें मनुष्य के व्यवहार में और मनुष्य की व्यवस्था में स्वतंत्रता सूत्र है जितने कम होंगे नियम जितनी कम व्यवस्था करने की चेष्टा होगी उतनी ही व्यवस्था आती है जितने ज्यादा होंगे नियम जितनी चेष्टा होगी व्यवस्था को आरोपित करने की उतनी ही अराजकता पैदा होती इससे हम ऐसा कहें मनुष्य और मनुष्य के बीच जितनी अराजकता हो उतनी व्यवस्था होगी और जितनी व्यवस्था हो उतनी अराजकता हो जाएगी इसका कारण है क्योंकि जब भी कोई एक व्यक्ति दूसरे को व्यवस्था देता है तब उसके अहंकार को चोट पहुंचती है छोटे से बच्चे तक को व्यवस्था देने में अहंकार को चोट पहुंचती है तो बड़े बच्चों की तो कहना ही क्या छोटे से बच्चे को भी तुम कहो कि बैठ जाओ शांत होकर तो तुम जो कहते हो वो महत्वपूर्ण नहीं मालूम पड़ता छोटे बच्चे को पीड़ा मालूम पड़ती वो पीड़ा यह है कि उसे बिठाया जा रहा है उसे अपनी असहाय अवस्था मालूम पड़ती कि मेरे ऊपर अन्याय किया जा रहा है आज मैं छोटा हूं तो मुझे दबाया जा रहा है ये बच्चा बैठ भी जाए तो भी बड़े प्रतिशोध से भरा हुआ बैठेगा और बैठने का तो कुछ भी मूल्य न था प्रतिशोध का जहर जीवन भर पीछा करेगा इसलिए बच्चे अपने माता पिता को कभी माफ नहीं कर पाते असंभव है नहीं माफ करने का कारण यह है कि इतनी व्यवस्था दी जाती है कि बच्चे के अहंकार को प्रतिपल चोट पहुंचती है उसे लगता है जैसे उसका अपना कोई होना ही नहीं दूसरों के इशारे सब कुछ जहां वे चलाएं चलो जो वे बताएं देखो जो वे करने को कहें करो तुम्हारे भीतर स्वतंत्रता का कोई सूत्र वे बचने नहीं देते एक बोझ की भांति मालूम होता है ये ये व्यवस्था आरोपित किया जाना ये बोझ इतना हो जा सकता है कि फिर बच्चा सारे ही बोझ को तोड़ दे और ठीक और गलत का हिसाब भी भूल जाए और हर चीज के विरोध में खड़े होने की प्रवृत्ति से भर जाए इसलिए तो अक्सर अक्सर सज्जन माता पिता के घर में सज्जन बच्चे पैदा नहीं हो पाते क्योंकि सज्जन माता पिता बच्चों को सज्जन बनाने में इतनी शीघ्रता से लग जाते उनकी चेष्टा का परिणाम दुर्जन का जन्म होता है तो कभी कभी जुआड़ी शराबी के घर में अच्छा बच्चा पैदा हो जाए लेकिन सज्जनों के घर में अच्छा बच्चा पैदा नहीं होता जुआरी और शराबी के घर में कोई नियम तो है नहीं जुआरी शराबी नियम बनाएगा भी कैसे जुआरी शराबी खुद ही अपने को व्यवस्थित नहीं कर पा रहा है बच्चे को क्या व्यवस्था देगा और एक अनूठी घटना घटती है मनस्विद बड़ी चिंता में रहे कैसा क्यों होता है कि बच्चा खुद अपनी व्यवस्था अपने हाथ में ले लेता है ये देख के कि कोई व्यवस्था करने वाला नहीं ये अनुभव करके कि मैं अंधेरे में खड़ा हूं खुद ही संभलने लगता है ये देख के कि माता पिता परिवार गलत रास्ते पर जा रहा है इसे देखने में किसी बच्चे को अड़चन नहीं होती कि गलत क्या है क्योंकि जहां से जीवन में दुख आता है वो गलत है इसके लिए कोई अनुभव की जरूरत नहीं इस जांच को तो हम लेकर ही पैदा होते हैं कि जिससे दुख मिलता है वो गलत है बच्चा रोज देखता है शराब दुख दे रही है जुआ दुख दे रहा है परिवार पीड़ा में जी रहा है नर्क में जी रहा है सचेत हो जाता है अपने को संभालने लगता है जब कोई संभालने वाला नहीं होता तो बच्चा अपने को संभालता है तुमने कभी देखा हो छोटा बच्चा गिर जाए तो पहले वो चारों तरफ देखता है गिरने के बाद रोना एकदम शुरू नहीं कर देता पहले वो देखता है कि कोई है भी मां है पास तो ये रोने में कोई सार है अगर माँ पास नहीं है चारों तरफ देख के कपड़े झाड़ के अपने रास्ते पे चल देता गिरने के कारण नहीं रोता मां की मौजूदगी के कारण रोता है जब देखता है कोई संभालने वाला नहीं उठाने वाला नहीं कोई संवेदना प्रकट करने वाला नहीं अपने पैरों पर चुपचाप खड़ा हो जाता रोना किसके आगे किसकी प्रतीक्षा करनी कोई है नहीं उठाने वाला खुद झाड़ देता है धूल को उठ के खड़ा हो जाता है ये बच्चा प्रौढ़ हो गया अकेला पाके एक प्रौढ़ता इसमें आई कि रोना व्यर्थ है लेकिन मां पास हो तो ये रोएगा चीखेगा चिल्लाएगा क्योंकि संवेदना किसी से मिल सकती है कोई फिक्र करेगा कोई ध्यान देगा इस बात को ठीक से समझ लेना कि जिन बच्चों को बहुत ध्यान दिया जाएगा बहुत फिक्र की जाएगी वे हमेशा निर्बल रह जाएंगे वे ऐसे पौधे होंगे जो अपने तई जी ही ना सकेंगे हॉट हाउस प्लांट उनके लिए कांच की दीवार चाहिए सूरज की रोशनी भी उन्हें मुरझाएगी हवा का झोंका भी उन्हें मार डालेगा जरा सी ज्यादा वर्षा और उनकी जड़ें उखड़ जाएंगी उनके पास कोई जड़ें नहीं है और कारण क्या है कारण इतनी है कि उनकी अति से सुरक्षा की गई अति से सुरक्षा स्वयं को सुरक्षित करने की सारी क्षमता का नाश कर देती तुम बच्चों को बचाना लेकिन अति सुरक्षा मत देना बचाना तो भी परोक्ष सीधी व्यवस्था मत देना तुम बच्चों के आसपास एक वातावरण की तरह हो ना जंजीरों की तरह नहीं एक हवा हो तुम्हारी उनके आसपास जो दीवाल नहीं बनती लेकिन काराग्रह ना हो अगर बच्चों को तुम यह भी कहना चाहो कि मत करो इसे तो भी इस ढंग से कहना कि उसके अहंकार को चोट ना पहुंचे रास्ते हैं निषेध को कहने के भी विधायक रास्ते हैं विधेय को भी कहने के निषेधात्मक रास्ते अगर बच्चा आग के पास जा रहा हो तो बजाय ये कहने के कि वहां मत जाओ उसका ध्यान आकर्षित करना कि देखो बगीचे में कैसा सुंदर फूल खिला है तुम यहां क्या कर रहे हो तुम उसे विधेय देना कि वो फूल की तरफ चला जाए आग की तरफ मत जाओ ये बात ही खतरनाक है क्योंकि ये निमंत्रण बन जाएगी तुम जब मौजूद न होगे तब बच्चा आग के पास जाना चाहेगा क्योंकि निषेध किया गया है और निषेध को तोड़ना जरूरी नहीं तो बच्चे का अपना अहंकार कैसे निर्मित होगा इसे तुम ठीक से समझ लो अहंकार निर्मित होने के लिए निषेध को तोड़ना जरूरी है जो जो कहा जाए मत करो वो करना जरूरी है नहीं तो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सीख पाएगा इसलिए तो तुम जो जो कहते हो मत करो वही वही बच्चे करते हैं और तुम परेशान होते हो सिर पीटते हो कि क्या मामला है इतना समझा रहे हैं इतना रोक रहे हैं समझाने रोकने के कारण ही किया जा रहा है निषेध की दीवाल बनाई तुमने कि बगावत पैदा होती तुमने कहा धूम्रपान मत करना शायद अभी बच्चे ने इसके पहले सोचा भी ना हो कि धूम्रपान करना है कौन बच्चा सोचता है या कभी किसी को देखता भी करते हुए और अनुकरण कर लेता है कोई निषेध न होता तो एक ही बार बच्चा धूम्रपान करेगा दोबारा नहीं खुद ही अनुभव से छूट जाएगा क्योंकि सिवाय आंसू आने के खांसी आने के और परेशानी के कुछ होगा नहीं बुद्धिमान पिता तो बच्चे को सिगरेट ला के दे देगा क्योंकि आज नहीं कल किसी न किसी का अनुकरण तुम करोगे ही तुम खुद ही अनुभव से जान लो मैं कुछ कहता नहीं तुम अनुभव से जान लो अगर प्रीति कर लगे तो आगे बढ़ना अगर अप्रीति कर लगे तो रुक जाना लेकिन तुम ही निर्णायक हो मैं निर्णायक नहीं और अगर पिता ये कर सके तो बच्चे के जीवन में धूम्रपान का जो पहला आकर्षण था वो नष्ट कर दिया और तब बच्चा दूसरों को धूम्रपान करके सिर्फ हंसेगा कि कैसे मूड लेकिन तुमने कहा मत करना रस पैदा हुआ इंकार में बड़ा रस है अब बच्चे के मन में एक ही बात घूमेगी उसके सपनों में एक ही बात घूमेगी कि कब मौका पा जाए कोई एकांत क्षण में धूम्रपान करके देख ले और तुम्हारा जितना निषेध होगा उतना ही बच्चा धूम्रपान की पीड़ा भी झेल लेगा लेकिन तुम्हारे निषेध को तोड़कर रहेगा तोड़कर ही तो उसको बल मिलेगा तोड़कर ही तो वो भी अनुभव करेगा मैं भी कुछ हूं तुम ही सब कुछ नहीं हो एक संघर्ष है जो पिता और बेटे में चलता है एक संघर्ष है जो मां और बेटी में चलता है वो संघर्ष बिल्कुल स्वाभाविक है उस संघर्ष से ही तो बच्चा बड़ा होता है इसे तुम ऐसा समझो संघर्ष बड़े प्राथमिक क्षण से शुरू हो जाता है मां के गर्भ में शुरू हो जाता है इसलिए तो बच्चे के जन्म के समय इतनी पीड़ा होती है क्योंकि बच्चा इंकार करता है बाहर आने से वो जहां है सुख में वो जकड़ता है अपने को रोकता है अपने को एक संघर्ष शुरू हो गया एक कलह शुरू हो गई यह कलह फिर जीवन भर जारी रहेगी पिता और मां और उनके बच्चों के बीच या तो समझदारी का संगीत हो तो कलह को सृजनात्मक रूप दिया जा सकता है अगर यह संगीत ना हो और ध्यान रखना इसका जुम्मा बच्चे पर नहीं हो सकता क्योंकि बच्चा तो अभी कुछ भी नहीं जानता है इसका जुम्मा तो बड़ों पर होगा और बड़ों ने अगर छोटी क्षुद्र बातों के ऊपर बड़ी सख्ती की तो ये बच्चा उनके हाथ से छूट जाएगा फिर वे रोए चीखें चिल्लाएं इससे कुछ भी होने वाला नहीं बच्चा इसमें आनंदित होगा कि तुम पीड़ित हो क्योंकि इसका मतलब होता है बच्चा शक्तिशाली हो रहा तुम्हें पीड़ित कर सकता है तुम उसे पीड़ित नहीं कर सकते वो भी पीड़ित कर सकता है अब एक राजनीतिक दांव पेंच बाप और बेटे के बीच चलेगा जो बाप और बेटे के लिए सही है वही बहुत से आयामों में सही है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच भी वही सही है शासक और शासित के बीच भी वही सही है जहां जहां किसी को चलाना है कोई दिशा देनी है किसी मार्ग को पकड़ाना है वहां वहां वही कठिनाई आएगी लाओस से कहता है कम से कम नियम न्यूनतम नियम बस उतने ही नियम चाहिए जिनके बिना चल ही ना सके जिनके बिना चल सके वो नियम काट देना दो व्यक्तियों के बीच का संबंध स्वतंत्रता पर स्वतंत्रता पर आधारित हो शासन पर नहीं और मजा यही है कि तुम जितना किसी दूसरे को स्वतंत्र करोगे उतना ही वो तुमसे शासित होने को तत्पर और राजी हो जाता क्योंकि अब तुम्हारा शासन उसके अहंकार को चोट नहीं पहुंचाता अब तुम्हारा शासन मित्र है अब तुम्हारा शासन शत्रु की भांति नहीं है इसलिए जो भी तुम किसी को कहो वो इस भांति कहना है कि वो सुझाव से ज्यादा ना हो आदेश कभी ना बने वही मिताचार है लेकिन बाप की अपनी अकड़ है वो सोचता बेटे को सुझाव क्या देना सीधा आदेश आज्ञा वहां भूल है सुझाव से ज्यादा कुछ भी नहीं किया जा सकता और सुझाव भी ऐसा होना चाहिए कि अगर तुम ठीक कुशल हो तो दूसरे को ऐसा लगेगा कि उसके भीतर से ही आया है किसी ने अमेरिका के बहुत बड़े करोड़पति अरबपति एंड्रू कार्नेगी से पूछा कि तुम्हारे जीवन की सफलता का राज क्या है तो एंड्रू कार्नेगी ने कहा मेरी सफलता का राज एक ही है और अब मैं बता सकता हूं क्योंकि अब मेरी मौत करीब है और मेरी यात्रा पूरी हो गई और वो राज यह है कि मैं अपने से भी बुद्धिमान लोगों से काम लेता हूं और इस ढंग से काम लेता हूं कि उन सबको ये प्रतीत होती कि उनके सुझाव मैं मान रहा हूं हालांकि वे सुझाव मेरे ही होते तो एंड्रू कार्डेनी अपने साथियों को सहयोगियों को बुला लेता था उन सब से कहता था कोई समस्या है हल करनी है तो सब सुझाव दें उसका सुझाव तो पक्का ही है वो पहले अपना तय कर चुका है कि क्या करना है वो उसे रखे बैठा है भीतर लेकिन सबसे सुझाव मांगेगा फिर मौका देख के कोई सुझाव जो उसके भीतर के सुझाव के करीब पड़ता होगा उस सुझाव के चर्चा वो बहाने चर्चा शुरू करेगा और वो ऐसा प्रतीत करवाएगा कि तुम्हारे में से ही किसी का सुझाव उसने स्वीकार कर लिया है लेकिन वो कभी ये एहसास न होने देना देगा कि मैंने कोई सुझाव दिया जिससे तुम्हें मानना पड़ा है एंड्रू कार्नेगी के पास जिन लोगों ने भी काम किया उन सबका भी वही एहसास है कि उसने कभी कोई सुझाव नहीं दिया बहुत कुशल आदमी होगा और ऐसा ही आदमी मानवीय जीवन को व्यवस्था देने में सफल हो पाता है तुम दूसरे को आदेश भी दो तो ऐसे देना जैसे वो सुझाव है और इस भांति देना कि मानने की कोई मजबूरी नहीं है वो मानना चाहे तो माने न मानना चाहे तो न माने वो नहीं मानेगा तो तुम्हें कोई दुख होने वाला नहीं है ये तुम साफ कर देना क्योंकि न मान कर तुम्हें दुख देने की जो वृत्ति होती है वो तुम खुद ही काट देना छोटा बच्चा नहीं मानना चाहता क्योंकि वो जानता नहीं मानेगा तो तुम परेशान पीड़ित होगे तो वो भी तुमको पीड़ित कर सकता है ये शक्ति अनुभव होगी तुम ये पहले ही जाहिर कर देना कि तू नहीं मानेगा तो कोई अड़चन नहीं मैं दोनों तरह से राजी हूं दोनों में मेरी खुशी माने तो न माने तो तो तुमने दंश काट दिया तुमने निषेध का जो रस था वो तोड़ दिया तुमने जीवन व्यवस्था को विधायक बना दिया सारी जीवन व्यवस्था निषेधात्मक है यहूदियों के ईसाइयों के दस आज्ञाएं तुम अगर पश्चिम को समझने की कोशिश करो तो लाओसे का सूत्र समझना बहुत आसान हो जाएगा पश्चिम में बड़ी बगावत है हर बात के खिलाफ बगावत है नई पीढ़ी कुछ भी मानने को राजी नहीं है कुछ भी जीवन के छोटे छोटे नियम भी मानने को राजी नहीं स्नान भी करने को राजी नहीं गंदगी को आचरण बना लिया है साफ सुथरा दिखना बुरजुआ गए गुजरे लोगों की आदत है तो हिप्पी है और हिप्पियों जैसा सारा वर्ग है पश्चिम में जो स्नान नहीं करेगा गंदा रहेगा गंदे कपड़े पहनेगा धोएगा नहीं कारण है ईसाइत ने बड़ा आग्रह किया पिछले 2000 साल में ईसाइत ने कहा कि cleanliness is next to God स्वच्छता बस परमात्मा से नीचे है स्वच्छता के ऊपर बस केवल परमात्मा है इसका आग्रह इतना प्रगाढ़ हो गया कि हिप्पी पैदा हो गया तो नई पीढ़ी ने कहा कि हमारे लिए तो दुर्गंध और स्वच्छता ही दिव्यता है ईसाइत में दस आज्ञाएं निर्धारित की हैं चोरी मत करो पर स्त्री को मत देखो धोखा मत दो लेकिन सभी नकारात्मक एक ईसाई पादरी क्रिसमस के पहले पोस्ट ऑफिस गया था उसने कोई पार्सल किसी को भेंट भेज रहा था और उसमें लिखा ऊपर हैंडल विथ केयर तो पोस्टमास्टर ने पूछा कि कुछ कांच इत्यादि का सामान है उसने कहा कि नहीं बाइबल भेज रहा हूं उसने कहा कि बाइबल में क्या टूटने जैसा है उसने कहा दस आज्ञाएं वो कांस से भी ज्यादा नाजुक है असल में नहीं नहीं और निषेध से ज्यादा नाजुक चीज जगत में दूसरी नहीं है तुमने नहीं कहा कि तुमने आधार बना दिया तोड़ने का तुमने किसी को भी कहा कि नहीं कि तुमने उसको निमंत्रण दे दिया कि तोड़ो उपनिषद में ऐसी एक भी आज्ञा नहीं है इसलिए मैं कहता हूं उपनिषद जिन्होंने रचा वे बहुत बुद्धिमान लोग थे उपनिषद में एक भी निषेधात्मक आज्ञा नहीं उपनिषद यह नहीं कहता कि चोरी मत करो उपनिषद कहता है दान दो बांटो उपनिषद यह नहीं कहता कि व्यभिचार मत करो उपनिषद कहता है ब्रह्मचरी को उपलब्ध करो उपनिषद ये नहीं कहता ये संसार बुरा है छोड़ो उपनिषद कहता है परमात्मा परम भोग खोजो बात वही है लेकिन जहां विधेय होता है वहां तोड़ने का सवाल नहीं उठता जहां विधेय है जहां कोई चीज पॉजिटिव है परमात्मा को खोजो इसमें क्या तोड़ना है तोड़ने का कोई मजा ही नहीं है इसमें तोड़ने का तो मजा ही तब आता है जब कोई कहे नहीं वहीं तुम्हारे भीतर भी अहंकार मजबूत हो जाता है वहीं तुम तोड़ने को तत्पर हो जाते हो वहीं तुम्हारे अहंकार पर कोई आक्रमण कर रहा है नहीं आक्रमक है अहंकार के लिए और अहंकार उसे बर्दाश्त नहीं करेगा उसे तोड़ के दिखलाएगा इससे स्मरण रखना मानवीय व्यवस्था में नहीं जितना कम बीच में आए उतना अच्छा हां को बीच में आने दो क्योंकि हां जोड़ता है नहीं तोड़ता है और तुम्हारे सब नियम नहीं पर आधारित होते हां पर करो उन्हें आधारित और तब तुम पाओगे कि पचास नहीं पर आधारित नियम एक हां पर आधारित नियम में समाविष्ट हो जाते इतने नियमों की जरूरत नहीं संत अगस्तीन से किसी ने पूछा कि मुझे जीवन अपना सुधारना है तो मैं कौन कौन से नियमों का पालन करूं तो संत अगस्तीन ने कहा अगर नियमों का पालन करने गया और ये पूछने कि कौन कौन से तो नियम हजार हैं जिंदगी बहुत थोड़ी तो तुझे मैं एक ही नियम बता देता हूं कि तू प्रेम कर तो उस आदमी ने कहा इससे सब हो जाएगा अगस्तिन ने कहा सब हो जाएगा क्योंकि जो प्रेम करेगा वो चोरी कैसे कर सकता जो प्रेम करेगा वो हिंसा कैसे कर सकता जो प्रेम करेगा वो किसी का अपमान कैसे कर सकता जो प्रेम करेगा उसके जीवन में जो जो कांटे हैं वो अपने से झर जाएंगे क्योंकि प्रेम केवल फूल को ही खिला सकता है प्रेम में कोई कांटे नहीं है जो प्रेम करता है वो क्रोध और घृणा और वैमनस्य और प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकेगा जो प्रेम करता है उसे तुमने कभी लोभ करते देखा उनका कोई मेल ही नहीं होता अगर लोभ करना हो तो प्रेम भूल के मत करना अगर लोभ करना हो तो प्रेम की बात में ही मत पड़ना इसलिए तो कृपण आदमी कभी प्रेम नहीं करता कर ही नहीं सकता कृपणता का प्रेम से कोई संबंध नहीं लोभी धन इकट्ठा करता है और प्रेम खतरनाक है उसलिए प्रेम से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं क्योंकि प्रेम का मतलब है बांटो इसलिए लोभी प्रेम की झंझट में कभी नहीं पड़ता हालांकि वो भी सिद्धांत खोज लेता है लोग बड़े कुशल हैं वो कहता है राग से मैं दूर ही रहता हूं कृपण अपने को वितराग समझता है कृपण सहजता क्या रखा है संबंधों में ये तो वो कहता है लेकिन तिजोड़ी में रखता चला जाता है धन ही उसका एकमात्र संबंध है और जिसका धन से संबंध है उसका जीवन से कोई संबंध नहीं रह जाता प्रेम तो जीवंत संबंध है धन तो मृत वस्तु से संबंध है धन से ज्यादा मरी हुई कोई चीज है रुपए से ज्यादा मुर्दा कोई चीज तुम दुनिया में खोज सकते हो पत्थर भी पड़ा पड़ा बढ़ता है पत्थर भी फैलता है सारा अस्तित्व जीवंत है लेकिन रुपया तुम बिल्कुल मरा हुआ पाओगे रुपये में कोई जीवन नहीं है और जो आदमी रुपये को इकट्ठा करने में लग जाता है उसकी आत्मा भी मर जाती और प्रेम तो वहां खिलता है जहां आत्मा जीवंत होती तो जो प्रेम करता है वो लोभ नहीं कर सकता जो प्रेम करता है वो कृपण नहीं हो सकता परिग्रही नहीं हो सकता एक प्रेम हजार नहीं वाले नियमों को अकेला संभाल लेता है एक हां इतना बड़ा आकाश है कि हजारों नीम के छोटे छोटे पौधे उसमें समाविष्ट हो जाते और बिना दंश के बिना कांटे के तो अगस्तीन कहता है प्रेम कर सको तो काफी प्रेम न कर सको तो फिर तुम्हें लंबी फेरिस्त नियमों की मैं बताऊं वो उनके लिए हैं जो प्रेम नहीं कर सकते हैं सब धर्म शास्त्र सब आज्ञाएं उनके लिए हैं जो प्रेम नहीं कर सकते जो प्रेम कर सकता है उसके लिए बड़े से बड़ा शास्त्र मिल गया अब किसी और शास्त्र की कोई जरूरत नहीं इसलिए तो जीसस कहते हैं कि प्रेम परमात्मा है तुम कुछ मत करो सिर्फ प्रेम कर लो प्रेम का सार सूत्र क्या है कि जो तुम अपने लिए चाहते हो वही तुम दूसरे के लिए करने लगो और जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो तुम दूसरे के साथ मत करो प्रेम का अर्थ यह है कि दूसरे को तुम अपने जैसा देखो आत्मवत एक व्यक्ति भी तुम्हें अपने जैसा दिखाई पड़ने लगे तो तुम्हारे जीवन में झरोखा खुल गया फिर यह झरोखा बड़ा होता जाता है एक ऐसी घड़ी आती है कि सारे अस्तित्व के साथ तुम ऐसे ही व्यवहार करते हो जैसे तुम अपने साथ करना चाहोगे और जब तुम सारे अस्तित्व के साथ ऐसा व्यवहार करते हो जैसे अस्तित्व तुम्हारा ही फैलाव है तो सारा अस्तित्व भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करता है तुम जो देते हो वही तुम पर लौट आता है तुम थोड़ा सा प्रेम देते हो हजार गुना होकर तुम पर बरस जाता है तुम थोड़ा सा मुस्कुराते हो सारा जगत तुम्हारे साथ मुस्कुराता है कहावत है कि रो तो अकेले रोओगे हंसो तो सारा अस्तित्व तो तुम्हारे साथ हंसता है बड़ी ठीक कहावत है रोने में कोई साथी नहीं है क्योंकि अस्तित्व रोना जानता ही नहीं अस्तित्व केवल उत्सव जानता है उसका कसूर भी नहीं रो अकेले रोओगे हंसो फूल पहाड़ पत्थर चांतारे सभी तुम्हारे साथ तुम हंसते हुए पाओगे रोने वाला अकेला रह जाता है हंसने वाले के लिए सभी साथी हो जाते सारा अस्तित्व सम्मिलित हो जाता प्रेम तुम्हें हंसा देगा प्रेम तुम्हें एक ऐसी मुस्कुराहट देगा जो बनी ही रहती जो एक गहरी मिठास की तरह तुम्हारे रोए रोए में फैल जाती प्रेम काफी नियम है और प्रेम नियम जैसा लगता ही नहीं तुम बच्चों को प्रेम दो नियम नहीं तुम्हारा प्रेम उनके जीवन में सारे नियमों की आधारशिला रख देगा तुम उन्हें सिद्धांत मत दो सिद्धांत तो कूड़ा करकट है तुम तो उन्हें हृदय की छांव दो तुम तो उन्हें प्रेम का भाव दो तुम इतना ही बच्चों को सिखा दो कि वे भी तुम जैसा प्रेम करने लगे तुमने सब सिखा दिया फिर तुम उन्हें छोड़ दे सकते हो इस विराट संसार में उनसे कोई भूल न होगी और तुम सब तरह के सिद्धांत उन्हें दे दो और सब शास्त्र उनके सिर पर रख दो और उन्हें प्रेम मत दो तुम्हारी आंख बचते ही तुम्हारे शास्त्रों को एक तरफ फेंक के लात मार के वे वहीं चले जाएंगे जहां जाने से तुमने उन्हें रोका था तुम्हारे निषेध उनके चरित्र पर रूपांतरित न करेंगे तुम्हारा विधायक भाव और जो दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है वही समाज और शासन का संबंध है शासन ऐसे है जैसे पिता माता प्रजा ऐसे है जैसे बच्चे इसलिए तो हम राजा को पिता कहते थे पुराने दिनों में चाहे राजा की उम्र कम भी हो तो भी वो पिता था और प्रजा उसकी संतान थी इसके पीछे कारण है कहने का कारण यही है कि जिसको भी शासन देना है उसे एक गहरे प्रेम के आत्मी संबंध में बंध जाना जरूरी है ये तुम्हें ख्याल में आ जाए तो लाओसे का सूत्र बड़ा आसान हो जाएगा एक एक शब्द को समझने की कोशिश करें मानवीय कारोबार की व्यवस्था में मिताचारी होने से बढ़िया दूसरा नियम नहीं मिताचार का अर्थ है बहुत गहन अनेक आयामी एक आयाम है मिताचार का कि आचरण के नियम जितने कम हो कम से कम हो उतना अच्छा उंगलियों पर गिने जा सके बहुत ज्यादा नियमों का जाल ना हो अक्सर अधिक नियम के जाल में ही भटकाव पैदा हो जाता है बहुत नियम चाहिए भी नहीं एक ऐसा नियम चाहिए जो सभी नियमों को समाविष्ट कर लेता हो और जीवन की व्यवस्था बड़ी सरल चाहिए अतिशय नियम में जीवन भी जटिल हो जाता है और तुम ऐसे जीने लगते हो जैसे कोई सैनिक हो सैनिक से आदमियत खो जाती उसका मानवीयपन खो जाता है वो यंत्रवत हो जाता है रोबोट कब उठना नियम से उठता है कब बैठना नियम से बैठता है कब खाना नियम से खाता है सब व्यवस्थित हो जाता है सैनिक आज्ञा में जीता है और नियम में बंध के जीता है सैनिक मनुष्यता का आखिरी पतन क्योंकि उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं वो अपने सपने में भी स्वतंत्र नहीं होता सपने तक में नियम घुस जाते उसकी नींद तक नियमों से आविष्ट हो जाती किसी पक्के सैनिक के पास अगर नींद में भी तुम खड़े होकर कह दो लेफ्ट टर्न वो नींद में भी करवट ले लेगा उसी वक्त नियम अचेतन तक चले जाते विलियम जेम्स ने अपना एक संस्मरण लिखा है कि खाटन में बैठ के वो बातचीत कर रहा है एक रिटायर्ड सैनिक रास्ते से गुजर रहा अंडों की एक टोकरी लिए और सिर्फ मजाक में अपने मित्रों को दिखाने के लिए कि नियम कितने गहन घुस जाते जोर से चिल्ला के कहा हटे उस सैनिक को रिटायर हुए बीस साल हो गए वो अटेंशन खड़ा हो गया टोकरी नीचे गिर गई अंडे सब जमीन पर फूट गए सैनिक बहुत नाराज हुआ उसने कहा ये क्या मजाक है विलियम जेम्स ने कहा कि हम अटेंशन कहने का हक नहीं तुम मत मानो उसने कहा ये कोई अपने बस में मानना न मानना आज्ञा आज्ञा है रोबोट का मतलब है यंत्रवत यहां तुमने बटन दबाई वहां प्रकाश जल गया प्रकाश कोई रुक के प्रतीक्षा थोड़ी करता है सोचता थोड़ी है कि जलू न जलू सैनिक भी वही है जो सोचने से बाहर हो गया सोचने से दुनिया में दो लोग बाहर होते हैं एक संत और एक सैनिक हम तो सोचने के पार हो जाता है और सैनिक सोचने के नीचे गिर जाता है दोनों पार हो जाते सैनिक पतित हो जाता है सोचने के स्थान से उसको सोचने की जगह से पदच्युत करने के लिए सारी सैनिक व्यवस्था है युद्ध चले या न चले सैनिक के लिए जैसे युद्ध चलते ही रहता है उसके क्रम में कोई भेद नहीं पड़ता सुबह शाम उसे घंटों लेफ्ट राइट और कवायद करनी ही पड़ती उसे जरा भी शिथिल नहीं छोड़ा जा सकता और क्यों इतनी कवायद करवाते लेफ्ट राइट का क्या संबंध है कोई संबंध नहीं लेकिन बहुत गहरी कंडीशनिंग की व्यवस्था है सैनिक को हम कहते हैं बाएं घूमो वो बाएं घूमता हम कहते हैं दाएं घूमो वो दाएं घूमता है धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे ये बात इतनी प्रगाढ़ हो जाती उसकी चेतन परतों से उतरते उतरते अचेतन में चली जाती तब तुम्हारा कहना बाएं घूमो बटन दबाने की तरह काम करता है सैनिक के बस के बाहर है कि ना घूमे घूमना ही पड़ेगा ये घूमना अब यंत्रवत है और जब एक सैनिक यंत्रवत घूमने लगा तब उसका भरोसा किया जा सकता है तब उससे कहो चलाओ गोली तो वो गोली चलाएगा चाहे सामने उसकी माही क्यों ना खड़ी हो तब वो अजनबी आदमी पे गोली चला देगा जिससे को कुछ लेना देना नहीं है जिससे कोई झगड़ा झमासा नहीं है जो उसी जैसा आदमी है जिसके घर माँ होगी पत्नी होगी बच्चे प्रतीक्षा कर रहे होंगे प्रार्थना करते होंगे कि कब वापस लौट आए और जिसने कुछ बिगाड़ा नहीं लेकिन सोच विचार के सैनिक नीचे गिर जाता है उसे यंत्रवत गोली चलानी उसे बंदूक का ही हिस्सा हो जाना है सोचे विचारे ये मौका राज्य उसे नहीं दे सकता क्योंकि सैनिक अगर खुद सोचने लगे तो हिरोशिमा पे बम गिराना मुश्किल है क्योंकि वो सैनिक कहेगा ये मैं ना करूंगा एक लाख आदमी राख हो जाएंगे क्षण भर में इससे तो बेहतर तुम मुझे मार डालो अगर मैं अपराध कर रहा हूं आज्ञा के उल्लंघन का तुम मुझे गोली मार दो लेकिन एक लाख लोगों को अकारण मानने मैं नहीं जा रहा हूं जिस आदमी ने हिरोशिमा पर बम डाला वो बम फेंक के वापस सो गया आके आठ बज के दस मिनट पर उसने बम फेंका नौ बजे वापस आके वो गहरी नींद में सो गया उधर एक लाख लोग आग में भुन गए छोटे छोटे बच्चे थे अभी गर्भ से बाहर भी ना आए थे वे भी बच्चे थे स्त्रियां थी बूढ़े थे जिनका कोई युद्ध से लेना देना ना था नागरिक जो न युद्ध कर रहे थे न जो युद्ध चला रहे थे बिल्कुल निहत्ते जिनके पास कोई बचाव भी नहीं था वे आग में भुन गए हिरोशिमा में एक बैंक है जो जल गया उसकी घड़ी किसी तरह बच गई वो ठीक आठ बज के दस मिनट पर रुक गई उस घड़ी को बचा लिया गया है वो हिरोशिमा की याददाश्त है उस दिन समय जैसे रुक गया और आदमी ने गैर आदमी होने की अमानवीय होने की आखिरी छलांग ले ली कि आदमी सो गया सुबह जब उठा तो पत्रकारों ने उससे पूछा कि तुम रात ठीक से सो सके उसने कहा कि बहुत मजे से ऐसी गहरी नींद कभी नहीं आई क्योंकि काम पूरा कर दिया जो मुझे आज्ञा मिली थी वो पूरा कर दिया आज्ञा पूरी हो गई मैं विश्राम में चला गया इस आदमी के मन पर जरा सा दंश भी नहीं है तुम्हारे पैर से चींटी भी कुचल जाए तो भी थोड़ा सा लगता है कि अकारण थोड़े होश से चल सकता था एक लाख लोग थोड़ी संख्या नहीं है मैं एक लाख लोगों को मार रहा हूं और रात आराम से नींद आ जाए ये सिर्फ सैनिक को हो सकता है वो विचार से नीचे गिर गया इसके पास अब कोई विचार विमर्श की क्षमता न रही इसका अपना विवेक न रहा इसका अब कोई होश नहीं ये मशीन नियम व्यक्ति को मशीन बनाते हैं नियम मनुष्यता की हत्या है इसलिए पहला तो ख्याल ले लेना कि जितने कम नियम तुम्हारे अंतर संबंधों में हो उतना अच्छा है ना हो तो वो परम दशा है संत तुम्हारे साथ बिना नियम के जीता है प्रेम उसका नियम कह सकते हो लेकिन वो कोई नियम नहीं है वो उसका स्वभाव है संत तुम्हारे साथ ऐसे जीता है जैसे तुम्हारे उसके बीच कोई भी नियम नहीं क्षण क्षण क्षण की संवेदना क्षण का प्रति संवेदन जो ले आता है उसी को जीता है नियम अतिश से आते एक ढांचा भीतर होता है अगर तुम मेरे पास आओ और इसलिए मेरे पैर छुओ कि परंपरागत है कि गुरु के पास जाओ तो पैर छूने चाहिए इसलिए अगर पैर छुओ तो छूना ही मत क्योंकि ये नियम से आ रहा है ना अचानक तुम मेरे पास झुकने के भाव से भर जाओ वो भाव किसी नियम से ना आए वो तुम्हारे अंत से आए वो तुम्हारे प्रेम का हिस्सा हो तब बात और है तब गुण और है तब उस झुकने का रस और है तब तुम उस झुकने में कुछ पाओगे तब तुम उस झुकने में भर जाओगे तब तुम उस झुकने में पाओगे कि तुम्हारा घड़ा झुका और नदी से भर गया लेकिन अगर नियम से तुम झुके तो तुम व्यर्थ ही झुकोगे वो कवायद हो सकती है उससे तुम्हारे शरीर को शायद थोड़ा लाभ हो लेकिन आत्मा को कोई लाभ ना होगा नियम से आत्मा को कभी कोई लाभ नहीं होता हानि भला हो जाए तुम घर जा रहे हो तुम पत्नी के लिए बाजार से एक फूल खरीद लेते हो ये तुम नियम की तरह खरीद रहे हो तो मत खरीदो ये पैसे व्यर्थ जा रहे हैं या कि तुम एक प्रेम एक अनुग्रह के भाव से खरीदते हो कि पत्नी दिन भर प्रतीक्षा करती रही होगी कि न मालूम कितना काम उसने किया होगा खाना बनाया होगा सब्जी तैयार की होगी वो राह देखती होगी और ऐसे ही मैं खाली हाथ चला जाऊं और फूल तुम्हें दिख जाता है तो तुम फूल ले लेते हो एक भाव प्रवण दशा में पत्नी तुम्हें इतना दे रही तुम उसे कुछ भी नहीं दे पा रहे तब तुम्हारा फूल एक मूल्य रखता है वो मूल्य बाजार का मूल्य नहीं है तब चाहे तुमने ये फूल दो पैसे में खरीदा हो ये बहुमूल्य हो गया कोहनूर भी फीका है इसके सामने क्योंकि अब तुम्हारे हृदय का संवेग लेके जा रहा है अब इस फूल का काव्य ही अनूठा है अब ये फूल साधारण इस पृथ्वी का फूल न रहा तुमने इसमें कुछ डाल दिया ये पारोलौकिक हो गया लेकिन तुम नियम से खरीद सकते हो तुमने किताब पढ़ी हो मैरिज मैनुअल्स में लिखा हुआ है कि जब घर जाओ तो आइसक्रीम फूल या कुछ खरीद के ले जाओ क्योंकि पत्नी वहां बैठी खतरनाक उसे थोड़ा संतुष्ट करना है जिससे देवी पर कोई चढ़ोतरी चढ़ाते ऐसा वो देवी घर में बैठी पता नहीं क्रुद्ध हो नाराज हो तुम्हारे फूल के ले जाने से थोड़ा सा समझौता होगा एक रुस्वत की भांति तब ये फूल कुरूप हो गया ये दो पैसे का भी ना रहा तब ये फूल गंदा हो गया क्योंकि फूल तो वही है जो तुम्हारे भीतर से तुम उसमें डालते हो पति लाते जिस दिन वो अपराधी अनुभव करते हैं उस दिन जरूर कुछ खरीद के लाते हैं आइसक्रीम खरीद लाते हैं और पत्नियां भी जानती हैं कि आज जरूर किसी और स्त्री की तरफ गौर से देखा है नहीं तो आइसक्रीम की क्या जरूरत है आज पति कुछ गिल्टी है कुछ अपराधी है कहीं भीतर कोई दंश है तो आइसक्रीम खरीद के लाया नहीं तो नहीं अगर हार ही खरीद लाया हो तो पक्का ही है ये किसी दूसरे स्त्री के प्रेम में पड़ गया है वो जितनी बड़ी भेंट लाता है उतनी ही बड़े अपराध की खबर लाता है दो व्यक्तियों के बीच जब नियम होता है तो प्रेम नहीं होता नियम का अर्थ ही यह होता है कि तुम बाजार में चल रहे हो बुद्धि से चल रहे हो हृदय के कोई नियम है कोई अनुशासन है न कोई नियम है न कोई अनुशासन फिर भी हृदय का एक अनुशासन है जो बड़ा अनूठा है जो बिना लाए आता है जो बिना आरोपित किए मौजूद हो जाता है जो खिलता है क्षण क्षण जो अतीत से नहीं आता जो वर्तमान में जन्मता है तुमने पत्नी को देखा घर जाके और तुमने उसे हृदय से लगा लिया ये तुम नियम से भी कर सकते हो करना चाहिए डेल की जैसे लोग किताबें लिखते हैं और वे किताबें लाखों में बिकती हैं बाइबल के बाद डेल कार्नेगी की किताबें बिकी दुनिया में और सब कचरा है और सब आदमी को झूठा और पाखंडी बनाती तो डेल कार्नेगी कहता है चाहे तुम्हें लगता हो चाहे ना लगता हो लेकिन पत्नी से दिन में कम से कम दो चार बार कहना जरूरी है कि मैं तुझे प्रेम करता हूं तेरी जैसी सुंदर कोई स्त्री नहीं लगे चाहे ना लगे ये सवाल नहीं ये कहना जरूरी है इसको तोते की तरह दोहरा देना जरूरी है डेल कार्नेगी कहता है इससे संबंध सुमधुर बने रहते कैसी झूठी दुनिया है जहां न लगता हो तब दोहराना तो जिंदगी एक पाखंड हो जाती जीवन एक कला है पाखंड नहीं और कला का यह अर्थ नहीं है कि तुम किसी स्कूल में उस कला को सीख सकते हो जीकर ही तुम सीखते हो जैसे कोई पानी में उतर के तैरना सीखता है ऐसे ही जी जी कर तुम जीवन की कला सीखते हो एक ही सूत्र ख्याल में रखना जरूरी है कि तुम होशपूर्वक जियो और देखो कि जीवन कैसा है और पाखंड से बचो पाखंड धोखा ही बनाएगा यह भी हो सकता है कि दो व्यक्तियों के संबंध पाखंड के कारण थोड़े से सुविधापूर्ण हो लेकिन कभी भी आनंदपूर्ण होंगे सुविधा सस्ती चीज है सुविधा को ले लेना और आनंद को गंवा देना महंगा सौदा है लाभ से कहता है मिताचारी मिताचारी का पहला आयाम है कम से कम आचरण के नियम हो in managing human affairs there is no better rule than to be sparing जब नियम कम होते हैं तो तुम दूसरे व्यक्ति को मौका देते हो उसके स्वयं होने का ये बड़े से बड़ा प्रेम है इस जगत में कि तुम दूसरे को वही होने दो जो वो होना चाहता है तुम दूसरे को वही होने दो जो वो होने को पैदा हुआ है तुम दूसरे की नियति में बाधा मत बनो प्रेम सहारा देता है तुम जो भी होने को बने हो वही होने में सहयोगी होता है प्रेम तुम्हें काट छांट के अपनी मर्जी के अनुसार नहीं बनाना चाहता क्योंकि मैं कौन हूं जो तुम्हें काटू छांटू मैं कौन हूं जो तुम्हें तुम्हारे रास्ते से चिद्ध करूं और कहीं और ले जाऊं मैं कौन हूं जो तुम्हारा नियंता बनूं प्रेम नियंता नहीं है प्रेम की कोई मालकियत नहीं है प्रेम तुम्हें स्वतंत्रता देता है वही होने की जो तुम होना चाहते हो प्रेम तुम्हें खुला आकाश देता है प्रेम तुम्हें छोटे से आंगन में बंद नहीं करता और प्रेमी प्रसन्न होता है तुम जितने मुक्त आकाश में विचरण करते हो तुम जितने दूर निकल जाते हो बादलों के पार उड़ते हुए कि प्रेमी को दिखाई भी नहीं पड़ता कि तुम कहां चले गए हो उतना ही प्रसन्न होता है क्योंकि तुम जितने स्वतंत्र हो उतनी ही तुम्हारी गरिमा प्रकट होगी तुम जितने स्वतंत्र हो उतनी ही तुम्हारी आत्मा सुदृढ़ होगी तुम जितने स्वतंत्र हो उतने ही तुम्हारे जीवन में प्रेम का झरना बढ़ेगा और बहेगा परतंत्र व्यक्ति प्रेम नहीं दे सकता इसलिए जब तक स्त्रियां परतंत्र हैं मैं निरंतर कहूंगा कहे जाऊंगा कि दुनिया में प्रेम नहीं हो सकता स्त्रियां परतंत्र हैं तो प्रेम असंभव है क्योंकि दो स्वतंत्र व्यक्ति ही प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं जिस स्त्री को तुम दहेज दे के ले आए हो जिस स्त्री को तुमने कभी देखा भी नहीं था और तुम्हारे माँ बाप ने तय कर दिया है और कोई पंडित पुरोहित ने जन्म कुंडली देख के निर्णय लिया है जिसका निर्णय तुम्हारे हृदय से नहीं आया जिसका निर्णय उधार बासा दूसरों का है ऐसी स्त्री को तुम घर ले आए हो इसमें सुविधा तो बहुत है इसमें झंझट कम है इसमें घर गृहस्थी ठीक से चलेगी लेकिन एक बात ख्याल रखना तुम्हारे जीवन में नृत्य का क्षण कभी भी ना आ पाएगा तुम्हारा प्रेम कभी समाधिस्थ ना हो सकेगा तुम इस प्रेम के मार्ग से परमात्मा को न जान सकोगे एक स्वतंत्र व्यक्ति ही प्रेम दे सकता है गुलाम सेवा कर सकता है प्रेम नहीं दे सकता मालिक सहानुभूति दे सकता है प्रेम नहीं दे सकता पति अगर मालिक है तो ज्यादा से ज्यादा दया कर सकता है दया प्रेम है कोई स्त्री दया नहीं चाहती तुम जरा थोड़े हैरान हो गए जहां प्रेम का सवाल हो वहां दया बड़ी बेहूदी और कुरूप है कौन दया चाहता है क्योंकि दया का अर्थ ही होता है कि मैं कीड़ा मकोड़ा हूं और तुम आकाश के देवदूत हो दया का अर्थ ही यह होता है कि मैं दयनीय हूं तुम देने वाले हो दाता हो मैं भिखारी हूं प्रेमी कभी दया से तृप्त नहीं होता लेकिन मालिक दया दे सकता है प्रेम कैसे देगा और गुलाम सेवा कर सकता है लेकिन सेवा प्रेम नहीं है सेवा कर्तव्य है करना चाहिए इसलिए करते पत्नी पति के पैर दबा रही क्योंकि पति परमात्मा है पैर दबाने चाहिए ऐसा शास्त्रों में कहा है वो पैर दबा रही है शास्त्रों के कारण अपने कारण नहीं और जो पैर शास्त्रों के कारण दबाए जा रहे हैं वो न दबाए जाए तो बेहतर क्योंकि इन पैरों से कोई लगाव नहीं इन पैरों में कोई आस्था नहीं है कोई श्रद्धा नहीं कोई प्रेम नहीं है ये गुलामी का संबंध है इन पैरों के साथ जंजीरें बंधी हैं ये आकाश में उड़ते दो मुक्त पक्षी नहीं है एक कारागृह में बंद है